विमुढ़ान थी तो किसी से भी राग करा तो आप उसकी गहराई के ईश्वर का और अपने गहराई के ईश्वर का अनादर करते द्वेष करा तो आप ये करते तो राग भी नहीं द्वेष भी नहीं और बीते हुए को याद भी ना करो किसी के गुण दोष ना देते ईश्वर को जानना है तो कहीं छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझो यहां तक कि ब्रह्मांड का चिंतन भी विघ्न है ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में ब्रह्मांड का चिंतन भी छोटा हो जाता परिचिन्न हो जाता ये बातें सबके बस की नहीं है बहुत ऊंची बात परमात्मा ब्रह्मा चैतन्य अनंत ब्रह्मांड उसमें तेरा उतरा रहे जैसे पानी का सरोवर है उसमें बर्फ के पार्सल तैरा उतरा रहे ऐसे वो व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा में कोटि कोटि ब्रह्मांड तैरा उतरा रहे हैं वो ही मेरे आत्मदेव होकर बैठे जो महाकाश है वही घड़े का आकाश होकर बैठा अब घड़ा मिट्टी है कि आकाश है अगर मिट्टी मानते हो तो तत्व रूप में वो मिट्टी तो अब अपने को घड़ा मानेगी तो टूटे मिट्टी मान लिया तो बस ऐसे अपने को शरीर मानेंगे तो मरेंगे लेकिन अपने को चिद आकाश चैतन्य मान लिया तो बस मृत्यु का भय गया अपमान का भय गया फिर लोभ लालच कपट ये नहीं रहेगा आत्मा की तरफ जाएगा तो किसी से मांगता नहीं दूसरे से साग भी नहीं मांगता और अपना है तो दे देने में पकड़ नहीं रहती ऐसा महान पुरुष हो जाता है इरादा कर ले कि मेरे को परमात्मा को पाना है और परमात्मा मेरा आत्मा होके बैठा है परमात्मा कहाँ है क्या आत्म रूप में है वो परमात्मा की सत्ता से बुद्धि याद करती है बुद्धि ने याद किया नहीं किया वो परमात्मा जानता वो आत्मा जानता अपने को बबलू शरीर मानते तो फंसते अपने को चैतन्य परमात्मा का परमात्मा को अपना ऐसे मान कर अभ्यास करे दृढ़ तो परमात्मा प्राप्ति हो गई उल्टा अभ्यास किया तो उल्टा मान्यता हो गई मैं पटेल हूँ मैं फलाना हूँ मैं मंत्री हूँ मैं जंत्री हूँ मैं पटावाला हूँ ये सब हो के बदल जाता है फिर भी जो नहीं बदलता वो सच्चिदानंद मेरे परमेश्वर आत्मा परमात्मा हो गुरुदेव के सामने देखते देखते देखते देखे तो गुरु का चित्र से मानो गुरु जी कह रहे हैं तो वही है चैतन्य आनंद शांत ईश्वर को गुरु को आकाश को देख के शांत बिन जरूरी सुनते बिन जरूरी बोलते बिन जरूरी करते समय तो बहुत है लेकिन फालतू बातों में बदो समय फालतू बातों में ना निकले तो सार समय को जरा सावधानी से या तो सेवा में या तो ब्रह्म परमात्मा के जप में चिंतन में और सेवा में भी बीच बीच में भगवान का नाम ओम नारायण हरि ओम ओम शिव भगवताकार भाव है हे राम जी चांडाल के घर की भिक्षा एक टाइम खाने को मिले और ब्रह्म परमात्मा का चिंतन और चर्चा मिलती है तो उस स्थान का त्याग नहीं करना चाहिए अन्य ऐश्वर्य तो छूट जाएंगे लेकिन ब्रह्म चर्चा से जीवात्मा ब्रह्ममय हो जाए हम फाइव स्टार होटल में रहते हैं हम रोज का दो हजार खर्चा करते बस बीस हजार करते लेकिन मरने वाले शरीर की सुविधा में तो खत्म हो रहे हो तुम सादा सुदा खाया भिक्षा की रोटी खाई और ब्रह्म चिंतन किया काय को किसी से राग किसी से द्वेष हम अपना काम ही काफी पड़ा है ब्रह्म परमात्मा को पाना ही बाकी है निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम Rio. โอ้ No. Om हरिओम ओम